भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वत्देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चाद्देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवासादिगौर्भक्तवृन्द हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय श्रीशुक उवाच वृत्रे हते त्रयो लोका विनाशक्रेण भूरिद सपाला ह्यभवन् सद्यो विज्वरा निर्वृतेन्द्रियः देवर्षि पितृभूता दैत्या स्वयं स्वयम् प्रतिजग्मुः ब्रह्मेशेन्द्रादय ब्रह्मेशेन्द्रादयस्ततः श्रीशुक उवाच श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा वृत्रे हते वृत्रासुर के बध होने पर त्रयो लोक तीनों जगत में रहने वाले लोग बिना शक्रेण के बिना इंद्र को छोड़कर भूरिदा हे बहुत दान देने वाले परीक्षित सपाल अपने अपने स्वामियों के साथ ही निश्चित अभवान हो गए सद्य तुरंत वृत्रासुर के मरते ही विज्वरा निष्ताप निर्वृतेन्द्रिय उनकी इंद्रियां आनंदित हो गई तो शिल सुखदेव गोस्वामी अब आगे कहते हैं कि वृत्रे हते त्रयो लोका बिना सक्रेण भूरिदा हे महाराज परीक्षित आप बहुत बड़े दानी हैं भूरी का अर्थ होता है बहुत बहुत और द का अर्थ है देने वाला जो बहुत दे उसको भूरी द कहते हैं गोपी गीत में आया है तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि रीडितम कलम शापहम श्रवण मंगलम श्री मदातम भूवि गृणंति ते दा जन भूरी का अर्थ बहुत और द का अर्थ देने वाला है तो महाराज परीक्षित वैसे भी बहुत दान करते थे परंतु श्रीमद् भागवतम के श्रवण द्वारा भी बहुत दान कर रहे महाराज परीक्षित जब भागवत सुने तो इस बात का बहुत प्रचार हो गया कि भागवत बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ है और इसे अवश्य सुनना चाहिए क्योंकि विश्व का सम्राट श्रीमद् भागवतम सुन रहा है इसका यह अर्थ है कि ऐसा आनंद और किसी काम में नहीं है और यही जीवन का लक्ष्य है तो इंद्र जब वृत्रासुर का वध कर दिए तो उस समय तीनों लोक में जितने प्राणी थे प्राय सब सुखी हो गए केवल इंद्र को छोड़ करके और देवर्षि पितृभूतानी दैत्या देवानुगाह स्वयं प्रति जगमु स्वधिष्णानी चंद्रा इंद्रादयस्तः जितने भी देवता ऋषि पितर दैत और भी जीवगण और देवताओं के अनुगामी गंधर्व जक्ष किन्नर आदि जो भी थे वे सब प्रति जगमुह स्वधिष्ण यानी धिष्ण का अर्थ घर गृह वे अपने अपने गृह चले गए स्वयं बिना इंद्र से पूछे ही इस पर महाराज परीक्षित कहते हैं कि इंद्रस्य निर्वर्तर हेतु श्रोतुम इच्छा में भव मुने जैना सन न देवा हरिर दुखम कुतो भवत हे गुरु हे गुरु मैं आपके श्रीमुख से यह सुनना चाहता हूं कि देवराज इंद्र के दुख का क्या कारण था जब वृत्रासुर का वध होने पर सब लोग सुखी हो गए तो हरिर दुखम कुतो भवत फिर हरि को इंद्र को दुख क्यों हुआ तब सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं श्री सुकवाच ऋषयस्तादुपाकर्ण्य महेन्द्रामिदमो ब्रुवन् याजयिष्याम भद्रम ते हयमेधे भई नहीं शिल सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मैं बाद वाला श्लोक बोल दिया वृत्र विक्रम संविघ्ना सर्वे देव सहर्षि भी यान इंद्रम नैछद तो बृहद बधात वृत्र विक्रम संविघ्ना वृत्र के पराक्रम से वीरता से या उसके उत्पात से सर्वे देवा शहर से भी समस्त देवता ऋषियों के साथ बिल्कुल भयभीत हो गए सम विघ्न उद्विग्न थे भयभीत हो गए थे सर्वे देवा सभी देवता सह ऋषि भी सहर से भी और भृगु आदि जो ऋषि मुनि थे वे सब भी बिल्कुल उद्विग्न थे भयभीत थे वृत्रासुर से और देवता तो भयभीत थे तो तद अर्थयन इंद्रम तो वृत्रासुर का वध करने के लिए लोग इंद्र से प्रार्थना कर रहे थे आप किसी भी तरह से वृत्रासुर का वध करो वध करो तद बधाय वृत्रासुर बधार्थम इंद्रम अर्थयन अर्थयन कहा से प्रार्थना कर रहे थे लेकिन नक्षत भी तो बृहद बधात बृहद का अर्थ ब्राह्मण लेकिन एक वैष्णव की हत्या करने से ब्राह्मण की हत्या करने से वृत्रासुर इंद्रदेव घबरा रहे थे भीत भयभीत थे संस्कृत में ब्राह्मण को बृहद भी कहते हैं <clears throat> बृहद बधा बृहद बध से <clears throat> ब्राह्मण के बध से इंद्र बहुत घबरा रहे थे उन्होंने साफ कहा कि नहीं मैं बध नहीं करूंगा इसके बाद इंद्र कहते हैं कि स्त्री भू जल द्रुमयी रेनो विश्वरूप बधोद्भव मुझ पर जो पाप लगा था विश्वरूप का वध करने के कारण तो चार लोगों ने हमारे पाप को चौथाई चौथाई बांट लिया बहुत कृपा किया हम पर चारों ने विभक्तम अनुगृहणत भी वृत्र हत्या को मार्ग में हम तो एक बार विश्वरूप की हत्या का पाप ले लिया चार लोगों ने अब मैं विश्व रूप का बध का पाप ले लिया तो वृत्रासुर की हत्या करूंगा तो इस पाप को मैं कहां धोऊंगा मुझे बहुत दुख भोगना पड़ेगा तो चार लोगों ने कौन कौन पाप लिया स्त्री भू जल द्रुम स्त्रियों ने चौथाई पाप लिया इंद्र का और पृथ्वी ने जल ने और वृक्षों ने कल मैं संक्षेप में इस बात को कहा था इसकी कथा पहले हो चुकी है विभक्तम अनुगृहणद भी इन चारों ने मुझ पर अनुग्रह किया वास्तव में कृपा किया इंद्र देवता बहुत संकट में पड़ गए थे लेकिन वृक्ष भू जल और स्त्री एक कृपा करके उनके पाप को स्वीकार किए तो फिर इंद्र कहते हैं कि मैं वृत्रासुर की हत्या करूंगा तो इस पाप को कहां धोऊंगा मुझे बहुत दुख भोगना पड़ेगा तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऋषि लोग यह सुन करके क्या बोले इंद्र से ऋषयस्तुपाकर्ण्य महेंद्र मिदम अभ्रवन ऋषि लोग जब सुने कि इंद्र नकार रहे हैं वध नहीं करना चाहते हैं पाप से डर रहे हैं तो ऋषियों ने कहा या जयश्याम भद्रम ते हय मेधे न मासम भाई आप चिंता मत करो हय मेध यज्ञ द्वारा अश्वमेध यज्ञ द्वारा हम लोग भगवान की आराधना करवाएंगे आपसे वृत्रासुर का वध करने के बाद आप आइएगा सामान जुटा करके यज्ञ चालू करेंगे तो इससे क्या होगा तो कहते हैं कि हय में धैन पुरुषम परमात्मान ईश्वरम इष्टवा नारायण नारायणम देवम मोक्ष से भी जगत बधा अश्वमेध यज्ञ में भगवान विष्णु की नारायण की आराधना होती है तो जब आप अश्वमेध यज्ञ द्वारा परम पुरुष परमात्मा परम ईश्वर नारायण की आराधना करोगे तो जगत बधात अपनी मोक्ष से सारे जगत के जीवों का वध करके भी उस पाप से मुक्त हो जाओगे एक वृत्रासु के वध से क्या पाप लगेगा दुनिया के सभी लोगों की जान मार करके भी उस पाप से मुक्त हो जाओगे इस तरह से ऋषि लोग सिखा रहे हैं <laughs> शिल प्रभुपाद कहते हैं यह अपराध है नाम के बल पर या भगवान के भक्ति के बल पर पाप करना उचित नहीं होता कहते पाप तो लगेगा लेकिन हम लोग अश्वमेध जग करेंगे और अश्वमेध जग करके वृत्रासुर की हत्या का क्या दुनिया भर के सब लोगों की हत्या करके उस पाप से मुक्त हो जाओगे अवश्य वास्तव में कोई पापी किसी पाप से मुक्त हो सकता है नाम जप करके भगवान की पूजा करके परंतु जान बुझ करके पाप करे कि भगवान का नाम ले रहे हैं तो ये पाप कट जाएगा तो वो पाप नहीं कटता है वो वज्रलेप हो जाता है जैसे कोई पॉकेट में दवा लिया हो और खूब बेढंगा खा रहा है कोई कहे कि ऐसे खा रहे हो कलरा हो जाएगा तो कहता है दवा लिए कलरा होकर के क्या करेगा और मान लीजिए कलरा हो जाए और कहीं दवा से ठीक नहीं हुआ तब तो इस बल से कि हमारे पास दवाई है चाहे हमारा पिता ही डॉक्टर है इसलिए मैं खूब अनसन खाऊंगा <laughs> यह तो ठीक नहीं है तो दुनिया के जो सबसे पढ़े लिखे वेद के ज्ञाता हैं भृगु आदि ऋषि लोग मरीची आदि ऋषि ये सब जुट करके और इंद्र को कहे कि मारो मारो मारो कोई बात नहीं हम लोग हैं ना यज्ञ करेंगे भगवान की आराधना करेंगे अरे भगवान क्या है जानते हो भगवान है पुरुष इस विश्व के भोक्ता है स्वामी है परमात्मा वही सबको ज्ञान देते हैं और ईश्वरम वही जगत के ईश्वर है वही कर्म फल देते हैं उनका नाम है नारायण ऐसे प्रभु का भजन करोगे तो दुनिया भर के जीवों का वध करके भी उस पाप से मुक्त हो जाओगे तो इंद्रदेव कहने लगे कि हम तो नहीं जानते हैं कैसे यज्ञ पूरा कर पाऊंगा तो कहते हैं इसके पहले आप सौ अश्वेध यज्ञ करके इंद्र बने हो अपना पोजीशन तो देखो क्या हो तुम तो? सौ अश्वमेध जग करके इंद्र बने तो इस पर इंद्र कह सकते थे ना कि सौ अश्वमेध जग तो किया था फिर भी विश्वरूप का पाप चढ़ गया हमारे सिर पर <laughs> तो उस समय तो अश्वमेध जग काम नहीं किया है तो कहते हैं नहीं नहीं देखो हम लोग कराएंगे तमस्व फिर कहते हैं कि दुनिया में जितने भी पापी हैं किसी भी प्रकार का पाप करने वाला व्यक्ति भगवान के कीर्तन से शुद्ध हो जाता है जिनके नामोच्चारण की इतनी महिमा है उन्हीं प्रभु की जब वेद विधि के साथ श्रद्धा के साथ हम लोग पूजा करेंगे तो कहां पाप रह जाएगा इनका एक बार नाम लेने से सारा पाप नष्ट हो जाता है सब प्रकार के पापियों का पाप कैसे दूर होता है कहते हैं ब्रह्म पितृहा गोघ्न मातृहा शार्जहा घवान स्वाद कस को वापी शुद्धेरन जस्य कीर्तनात् जस्य कीर्तनात् जिनके कीर्तन से जिनके नाम का उच्चारण करने से कौन कौन पवित्र हो जाते हैं ब्रह्महा ब्राह्मण की हत्या करने वाला इस संसार में ब्राह्मण का वध करना बहुत बड़ा पाप माना गया है लेकिन किसी व्यक्ति से यदि ब्राह्मण का वध हो गया हो तो भगवान के नाम का जप करके भक्ति करके उस पाप से मुक्त हो जाता है ब्रह्म है गोघ्नो पितरी है ब्राह्मण का वध करने वाला माता पिता का वध करने वाला गाय की हत्या करने वाला मातृहा मां को मारने वाला आचार्य हा आचार्य की हत्या करने वाला गुरु की हत्या करने वाला इस प्रकार के जितने भी अघवान हैं पापवान हैं पापी हैं और यहाँ तक स्वाद पुलकस को वापी चाहे चंडाल हो चाहे पुलकस हो शुद्धेरन जस कीर्तनाद कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम का उच्चारण करके पवित्र हो जाता है उसका पाप चला जाता है और ये कहते हैं कि ये तो पापी लोग शुद्ध हो जाते हैं और आप तो वृत्रासुर की हत्या करोगे तो कोई पाप लगेगा ही नहीं फिर भी हम अश्वमेध जग करेंगे यदि आपको शंका हो रही है कि पाप लगेगा <laughs> तो हम लोग अश्वमेध जग करेंगे शिल प्रभुपाद जी इस श्लोक की व्याख्या में कहते हैं कि इस तरह से भक्ति के बल पर बुझ करके पाप करना यह बिल्कुल अनुचित बात है देव किसी को पाप में प्रेरित करना और कहना कि कर तुम डिभोटी हो भगवान इसको माफ कर देंगे <laughs> पाप करो और दिखाए कि देखो नाम का उच्चारण करके जामिल मुक्त हो गया वो मुक्त हो गया ये हो गया वो हो गया ये ठीक है भगवान का नाम किसी भी पाप को नष्ट कर देता है लेकिन नाम के बल पर कोई पाप करता है तो इसका मतलब नाम को पाप में सहायक बना रहा है नाम ले रहे हैं और सोचते हैं कोई भी पाप करें तो नाम के बल से निडर होकर के पाप कर रहे हैं तो कहा पाप काटने की शक्ति नाम में है तो नाम से ही पाप करा रहे हैं है ना ये अपराध लग जाता है इसलिए नाम अपना फल नहीं दे पाता ये नाम अपराध कराने जा रहे हैं <laughs> ऋषि लोग कहते अश्वमेध जग में तो भगवान की पूजा होती है कीर्तन होता है तुम पाप से मुक्त हो जाओगे तमास्वमेधेन महामखेन श्रद्धान्वितोऽस्माभिरनुष्ठितेन हत्वापि सब्रह्मचराचरम् त्वम् न लिप्यसे किम खल निग्रहेण उन्हीं प्रभु की जो सबके ईश्वर हैं और जिनका नाम इतना पवित्र है उन्हीं प्रभु की हम लोग महायज्ञ अश्वमेध से आराधना करेंगे और आपकी श्रद्धा है ही और हम लोग वेदज्ञ हैं ही हम लोग बहुत से सुंदर मंत्रों के द्वारा अनुष्ठान करेंगे उस यज्ञ का उस यज्ञ का यदि कोई व्यक्ति अनुष्ठान करता है तो ब्राह्मण सहित चौर और अचर सभी जीवों की हत्या करके भी वो पाप से मुक्त हो जाएगा किम खल निग्रहण फिर खल का वध करने पर क्या पाप लगेगा सब ब्रह्म है ब्राह्मण सहित चौर और अचर सबका वध करने पर ही पाप से मुक्त हो जाएगा इससे यहां सिद्ध हुआ कि अचर का भी वध व्यक्ति करता है तो पाप लगता है उसे वृक्ष अचर है चलते नहीं है लेकिन अनावश्यक एक पत्ता भी कोई तोड़े तो वास्तव में कर्म बंधन होता है रिएक्शन होता है सब कुछ ईश्वर की आज्ञा के अनुसार होना चाहिए कुछ लोग बिना मतलब के वृक्षों को काटते रहते हैं तोड़ते रहते हैं और इधर तो अमेरिका में पश्चात देशों में इतना वृक्षों को काट काट करके अपने दरवाजे की शोभा बढ़ाते हैं हमें डिकोरेशन है वृक्षों वो बेचारे अपने फूल फ्लेज में बढ़ नहीं पाते हैं कुछ पौधे होते हैं ना बढ़ नहीं पाते हैं अवश्य कुछ वृक्षों के कुछ भाग को काटने का विधान है जैसे मनुष्य के केस को काटने का विधान है केस काटने पर ठीक रहता है आदमी जाता है पैसा देकर के केस कटवाता है केस कटाता है जैसे भी करे चाहे कुछ भी और कोई किसी दिन किसी का कान ही काट ले या इधर से हाथ काट दे तो यह तो <laughs> फिर उसकी दुर्गति का कारण हो जाएगा उस पर सु होगा केस होगा फंसेगा लेकिन वृक्षों के चाहे मस्तक को चाहे किसी को भी काटने में कोई संकोच नहीं होता है लोगों उस काटो काटो क्योंकि हम इस शोभा बढ़ा रहे हैं अपने लान की शोभा बढ़ा रहे पर एक दिन शोभा जब राज्य बनाएंगे खूब अच्छी तरह से अनावश्यक नहीं काटना चाहिए अब तो इधर का भाई विधान है नहीं काटेंगे तो आप पर ही फाइन हो जाएगा <laughs> और वृक्षों को घास को न काटिए न संवारिए तो लेकिन वैष्णवों को अनावश्यक हत्या से बचना चाहिए अचर की भी चर की तो बात ही अलग अब चर में जैसे कीड़े मकोड़े हैं तो उनको बिना मतलब के स्प्रे करके नहीं मारना चाहिए ऐसा साफ रहना चाहिए कि वो घर में पड़े ही नहीं गंदा रह करके घर में जब कॉकरोच कहते हैं ना ऊपर जाते हैं तो इसके बाद स्प्रे करते हैं सफाई करते हैं तो कई जीवों की हत्या होती रहती है सब कर्म बंधन बनता है जैसे बिल बनते रहते हैं कई प्रकार के खर्च के <laughs> वैसे कर्म बंधन बनता रहता है बनता रहता है इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि हमेशा भगवान का नाम जप करे कुछ ऐसे पाप हैं जिन्हें करना ही पड़ता है करना पड़ता है विवश होकर के तो उसका उतना रिएक्शन नहीं होता है लेकिन फिर भी कुछ होता है तो हम लोग आपके अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे और <clears throat> आपकी श्रद्धा रहेगी तो आगे पाप करने के लिए कहते हैं कि इस प्रकार का यज्ञ जब हम करेंगे तो आप ब्राह्मण सहित सबका वध करके भी पाप से न लिप्य से आप लिप्त नहीं होंगे कोई पाप लगेगा ही नहीं <laughs> ये बात बिल्कुल सत्य है वास्तव में अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्ष स्वामी मां सोचा भगवान कहते हैं तुम सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा भगवान अधर्म छोड़कर आने के लिए नहीं कहते धर्म छोड़ना बहुत कठिन हो सकता है किसी को उपदेश किया जाए तो आदमी मांस खाना बंद कर दे या शराब पीना बंद कर दे दुराचार करना या सिगरेट आदि पीना जुआ खेलना बंद कर दे परंतु जो मान चुका है कि हमें घर चलाना हमारा धर्म है ये चलाना वो चलाना और ईश्वर के विषय में अपना कोई संबंध नहीं देख रहा है अब देख दुनिया की यही हालत है ना जितनी आसक्ति अपने बच्चे में है अपनी पत्नी में है अपने स्वजनों में है भगवान के साथ ठीक है आए संबंध थोड़ा आरती घुमा दिया हो गया यही है ना संबंध भगवान के साथ वास्तव में हृदय का खुला प्यार नहीं है कृष्ण के साथ तो जो हम आवश्यक मान चुके हैं कि हमारा परिवार है हमारे लिए जरूरी है ये करना वो करना इसी को धर्म कहा जाता है भगवान कहते हैं इन सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण लो मेरा भजन करो मैं तुम्हें सर्व पाप से मुक्त कर दूंगा चिंता मत करो